गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन तो कहने लग गया कि भाई के कहूं जवाब इस छोरे ने पिताजी मेरी नाड़ काट ले सतगुरा की के इज्जत रहेगी काल में हमने टूट तो दिया को नहीं उसको फांसी और तोड़वावांगे नो कहीं ये करवाना हमें चोरी आड़े बस कर कमीज का आंख छोरे की नाड़ पमारी गर्दन के दो हो गए धड़ से अलग हुई पकड़ कर उसकी चोटी और लाकर ताक मदर देता है तो उसकी मां कहने लागी नेकी कि छोरा धड़ कित रहेगी न बोली उल्टा जा और बाणिया घर में ना रखा उस लाश में बाहर पड़ी पावेगी वो वापस जाता है बाणिया ने देखी कही तो तीन सौ दो का मुकदमा होगा तेरी जान में वो छोरे की लाश ने ठाके और अपने मकान से तो दूर गिरा और अपना लीप लाप के वो करके ला कर डले उल्टे और नो हो गया दोनों तो उसका अर्धेता मार दिया बाहर तक दोनों थी को ना मारा चोरिए ना हो बैठ गया भीतर लाश ने ठा के सम्मन लाके एक बोरी गेर देता है कूण में गेर कर और देखो बेचार की बात वहां पर नेकी उसकी मां छोरे की लाश एकले की पड़ी है और मां रोटी पो है रोटी बना के सब्जी सारा सौदा जो भी उसका बनाया और सुबह दिन लकड़ते तीनों महात्माओं से अर्ज करी गुरुवर भोजन पालो माटी के कसूरे थे दौड़े थे उनमें तीन दौड़ा में डाल दिया तो कबीर साहब भी बैठ के कमाल भी शेख फरीद भी कहने लगे कबीर साहब के भाई इनको छह आम कर दो तीन वो प्राणी थे तीन वो महात्मा थे तो सम्मन ने बोला महाराज जी हम तो फिर पालेंगे आप महात्मा सो हम पाछे खावांगे अगर आत्मा और परमात्मा एक नूर जहूर तेरे मर मेरे में कोई अंत नहीं बेटा बेठड़ बराबर अब वो नोकें कि तीसरा कितने लावांगे अर्जय ने नो बेरा पट गया कि छोरा काट गया ते तो रोटी नहीं खाएंगे ते तो कोर्ट मुकदमा जान तो वो सहज सहज घना जोर दिया जब पांचा में गाल दिया फिर महाराज ने बोले छह में करोड़ छह में गाल दिया अकाउ बैठो अब नो निकल के मारे के छोरा मरिया पड़िया से बैठ जा सकते अब नो जकर सतगुरु ने भी नहीं किया कि छोरा कित से तो बोले आओ सेव जीम लो बंदी छोड़ कबीर साहब ये प्रसाद प्रेम और भाई सर कटा करें चोरा के तुम तो साधु हो साधा के नहीं तकसी बोल सतगुरुदेव इतने मु छोरे का सर उस धड़क पर जुड़के और पंगत मा बैठा वो लड़का महाराज गरीबदास जी कहते नहीं घरारा नाड़ के ओ सेवक ना और सेमन आ बैठा पंगत में जी मैं मां अभी आपको सुनाएंगे वाणी में तो याद नहीं तो कभी नो आके बैठ गया उसके कितने नाड़ पे निशान भी नहीं कटे हुए का यू ओ से एक दूसरा बोल बंदी छोड़ मार अब हमने भगवान कृष्ण को परमात्मा की संज्ञा में क्यों लिया था कि ताम्रध्वज का लड़का काट के जिंदा कर दिया था और इस भगवान ने इसे इसे सैकड़ों कर रखे पर इसको भगवान स्वीकार करने कोई तैयार नहीं क्योंकि इनकी लीलाओं का प्रचार कौन हो पाया और इनकी लीलाओं का प्रचार जब हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा तो पता लाग जाएगा ऐसी बात नहीं भगवान वह भी है और परमात्मा यो भी है तो इस प्रकार वो लड़का जीवित हो जाता है तो यहां कहा ग्रीव निश्चय से शीश चढ़ाया चोरी संत से धारे बढ़िया कुंजा पकड़ लिया है कर दे शीस उतारे ग्रीब निश्चय से वो शीश चढ़ाया चोरी संत सधारे बढ़िया कुंजा पकड़ लिया है कर दे उतारे ग्रीब पिता सम्मन और माता ने की जिनके निश्चय भारी जहाँ कबीर कमाल फरीदा भोजन की भई प्यारी ग्रिल सेऊ दड़पै चढ़ाया मीन मेख ना कोई आजर नाजर मिले दिसंबर ऐसा निष्ठा सोई तो इस प्रकार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणी को जब आप सुनोगे इतना निश्चय हमारे ऊपर हो जाना चाहिए अब हम आगे बताते हैं ग्रीब कनक जने हो कंद दिखाया है रे दास रंगीला दरे सात सौ अंग ताशकों ऐसी अद्भुत लीला अब हमारे मन में बैठ रही थी कि विद्वान जो होते हैं ना चारों वेदांत जाननी है और क्या घने बड़ी तप कर रहे हो नो बैठ कर कई हजार वर्ष आई हम उनको साधु मान्या करते नहीं बंदी छोड़ महाराज प्रमाण देते हैं और हम रोज पढ़ते भी हैं उनको पर हम मानना फिर भी उस बंदूक खाड़े नहीं सब बड्डा अफसर तो बात यह है कि शक्तियां उन संतों में भी है जैसे एसपी में भी शक्ति होती है और इसमें हौलदार में भी होश है और डीआईजी में भी हो सकती लेकिन मुख्यमंत्री तो तड़े तड़े नीचे नीचे अब मिलिट्री में ले लिए कर्नल भी जर्नल भी सारा में शक्ति हो से और बंदूक और तोबर सारा खजाना हो सर पर प्रधानमंत्री तो ऊपर नहीं हो सकते इसी प्रकार कितना बड़ा शब्द हो जाओ पर कबीर साहब तय तले नीचे नीचे ये उन्हीं से भक्ति उन्हीं की शक्ति से ही वो कुछ प्रफुल्लित हो रहे से और जिस दिन इनकी मन चाहोगा उस दर्नल में भी एक लो धर देंगे ठाक और कर्नल में भी कोई भी गलती या उन्हें ना मनमानी करनी चाहिए तो उनके हुक्म से ही वह तोब चलाएंगे तो वह कामयाब रहेंगे मन मर्जी जिस दिन बरत देंगे उस दिन ना तो वह जर्नल सर ना कर्नल सर ना एस पी सर क्योंकि वह और सुप्रीम पावर समझो इसी प्रकार अब ये जो सिद्ध होते हैं कई बार मनमानी से अपनी सिद्धि दिखा देते वो नरक के भागी होते क्योंकि मनमानी सिद्धि दिखाण से वह नाजायज बदों की गोली चला दी अब सिद्धि कबीर साहब दो रवि से पर इन्होंने दिखाई नहीं हुआ बंदूक आवश्यकता पड़ने पर चलाई तो वो कामयाब रहेंगे जैसे बंदूक क्यों दी गई है कि उसमें कुछ नियम है जैसे सिपाही को दी कि और किसी को पिस्तौल दिया कि इन परिस्थितियों में प्रयोग करोगे तो आप दोषी नहीं हो और बिना किसी का अपनी मनमर्जी से वहीं ठोक दोगे तो अंदर कैद का वहां जाओगे दोषी हो इसी प्रकार संत कबीर साहब ने जो बताई ये बिल्कुल हम उनको एक कपि जाटो उदाहरण के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करेंगे अपनी जितनी बुद्धि मेरी काम करे पर इस वाणी को सबके बस का नहीं है कि इसने समझ लिया तो यहां हमारे जो मन में विचार थे तो एक बार रविदास जी रामानंद के शिष्य हुए क्यों हुए क्योंकि कबीर साहब में रामानंद पंडित ब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचारी योगी गाता वेदों के उनका भ्रम तोड़ा कि ऊंच नीच कुछ ना है महाराज जी या जात पात तो घर की घड़ी हुई से बुरे काम करने चाहे पंडित हो चाहे जाट हो चाहे बाणिया वो महानीच है और अच्छे काम करनिया चाहे चूड़ा हो चाहे किसी जाति का हो वो आदरणीय और पूजनीय है चाहे चमार हो और आपने तो एक जात बना दी वो उस जात का चाहे भगवान उसमें उन्होंने नीच है हम नहीं मानते इस बात ने महाराज कहेंगे चूड़े का चूड़ी का विश्वास है तो के पंडित का जी अगर आत्मा जिसका चूड़ी का दिल पाक है तो हमारे लिए वह पूजनीय और आदरणीय माई है आमनून पंडित और विद्वानों की तो आवश्यकता नहीं है तो इस प्रकार जो बंदी छोड़ की बात को समझेगा तो यथार्थता में पहुंचेंगे नहीं तो हमने उड़ कर दो धर्म बना लिए फिर जात बना ली ऊंच नीच कर लिया लठम लट्ठा मर पड़ कर फिर गधे बन जाते एक बार रविदास जी ने रामानंद जी से उपदेश लिया लेकिन वह गुरु मान्या करते कबीर साहब को क्योंकि तो मार्गदर्शन और नाम भी फिर कबीर साहब से ले लिया था उन्होंने शुरू शुरू में तेनो ब्रह्म तोड़न खातर रामानंद जी का कति अकी चमार ने भी दे नाम उस समय तो बहुत ज्यादा जात पात थी कहते ईब फर्क पड़ रहा था ना तो पचास साल पहले यहां देख लेते तो उस समय आज से छह सौ साल पहले रविदास जी एक चमार जाति से थे और उन्होंने रामानंद जिया से नाम लिया फिर कबीर साहब से ले लिया एक दिन एक पंडित जी न्यो बोला कि रविदास क्योंकि भक्ति तो उनकी फैल ही चुकी थी कुछ सिद्धियां थी उनमें शक्ति होगी थी भक्ति में वैसे शक्ति हो जाती है बिना तप करें भी नाम में इतनी शक्ति है तो उस तेने बोला आजा रविदास तेने गंगा जी नु आके लाऊ दूर तक खड़ा खड़ा नु बोला पंडित जी गंगा मारी ताड़े है गराए जैसे गरीबदास जी कहें घटी में गंगा घटी में जमुना घटी में जगदीश जिसने अंदर की गंगा यानी ईश्वरीय शक्ति को संतरित और दर्शन कर लिया तो उसकी गंगा सारी है न उस गंगा में निरी नहाए तो काम नहीं चालता बीरा तो जी पर बोला पंडित जी तू जा सहने एक काम कर दिया मेरा के या मेरी कोडी ले जा धो धा महाराज कवि रविदास ने अपने हाथ धोए फिर कोडी धोई कदे पंडित जी ना छुए और नो करिए गंगा जी ने मेरी कोडी दे दिए क्योंकि वहां दान करते हैं पैसे का डालते हैं गंगा में और जब दिए जब गंगा हाथ काट लेनु बार रे और नु कह दिए रविदास ने भेजी से और हाथ काट के लेगी तो दिए ना मेरी कोडी की बेजती मत करिए उल्टी ले आना बोला अच्छा तेरी कोडी और गंगा फिर हाथ काट के लेगी अब देख अरज से पंडित जी ना लेना तो उल्टी ले आइए अरज से मेरी अतरे से प्रार्थना और न्यू कह दिए कि हे गंगा मैया भगत संत रविदास जी ने आपके लिए एक कोडी भेजी है और इसको अपने कर मंडल से अपने कर कमलों से ग्रहण करो उसने ना धोकर उन्हें सोची चल उस पाखंडीय की अजमा के देख लें साची से जूठी उसने उसी तरह के सवाद उच्चारण किया ये वचन उसी समय गंगा जी ने न्यू हाथ काट लिया दोनों हाथ काटे एक हाथ में कौडी ले ली और एक हाथ में कंगन न्यो बोला न्यो बोली विपर जी यो मेरा कंगन उस आदरणीय पूजनीय संत रविदास ध्यान दे दिए और उसकी कटकोडी मन कद कद मेरा इसे संत के हाथ की रिया वस्तु मुझे मिल गई मत तो धन होगी नो लेकर कौडी और वापस चली गई अब रविदास जी अब पंडित जी के मन में आ गया बेईमाना इतना सुंदर कंगन है बाकी तो देखा न सुना उन्हें सोची तो के करेगा उस समारते ही देख चाल राजा ने दूंगा अर्थ इनाम मिलेगा राजा के पास गए राजा को दिखाया महाराज इतना आकर्षक उसके आकर्षण था उसके अंदर कंगन ने देखते ही राजा ने बोला रानी ने दू प्रसन्न होएगी रानी को पहुंचा दिया अंदर से खबर आई कि एक और चाहिए ईसाई जब मैं राजी हूं और अति शीघ्र चाहिए अब राजा रानी का हुक्म राजा के पास राजा ने बोला विपर जी एक और ला दे अब विपर जी ने हुई मुश्किल और नीला होगा ना त्रिश सात से देख लो सात मदन आज रोज ये लेकर और नहीं तेरा बच्चा कोलू पीट पीट दिया पहले इसी सजाएं हुआ करती थी अब पंडित जी का जाडा चल गया कहा थारे तो, तो ना जोड़ी बरवान खातिर तने सात और मोल ले ली अब सारा घूमया क्यों कविदास जी जा नहीं डर लग गए तो मुंह दिखा उसने जाकर के इब और मिलन ही सारे सुनार सुनुरा को पूज लिया बाकी नो कह दिया था राजा ना मुंह मांगा दे दूंगा घबराइए मत ना जो पैसे मांगा मेरे ताक तो ले जाना पर लिया दिए कंगनी ईसाई सारा घूम लिया क्या न मिला था कति रोटी छूट गई छठा दिन हो गया अब वह मिश्राणी कहन लगी कि बात तो बताओ केस है आप तक तो कति सूख के आधे भी ना रह रहे नो बोली नो बोला मना अपनी शायद आपका मोल ले ली क्यों कर के मैं बात तो बताओ वह सारी कथा सुनाई तो वह ने बोली उन दौरा चला जा और माफी मांग ले संत दयालु होया करें माफ कर देते हैं अब मरता के नहीं करता अगले दिन जाना ना जा तो सारे कॉन्वेंट बुला लेगा तो भाई राजा तो जाकर रविदास जी के चरणा में पड़कर रोन लाग गया बोला विप्र जी विप्र जी आप तो भ्रष्ट हो गए दूर दूर दूर बैठिए हमारे से देख मैं नीच सू उन बेरा सारा थाए नो बोला मैंने शर्मिंदा ना करो अके मैं बात तो बता नो बता पहला तो गंगा जी ना आया अरे गंगा जी ने तो नाश करा मेरा ना ना दा तो ही चोखा था बोला कि मैं मेरी कोडी ली उसने अगर कोडी के का कराया मुकदमा हो रहा मेरे जी ने फिर बता तो की होया उस माई ने कंगन दिया था और मेरा आ गया लालच में क्यों दिया रविदास जी आती मैं राजा के पास ले गया राजा ने ये ये वचन बोल रहा कि शहर आज आज का दिन बीच में से जब जान बचाई जाएंगी हो तो बचा दे ना विपर का पूरा परिवार मरेगा आसन हाँ, लागे बंदी छोड़ नो बोला तो, तो माई में रोज नान जाया करता लिया ने कहा दाओ रहे नो बोला मैं उड़े भी जा लिया मेरी कोई ना सुनती वाह नो बोला तो इस कुंड में हाथ दे ले जिसमें वो चाम ब्याह करते थे डोर नो ब्याह करते थे नो बोला इसमें हाथ दे ले और कार्ड लेकर एक चाहिए से नो हाथ दिया तो उसमें दस बारह कंगन आ गया हाथ में तो रविदास ने बोला एक ले जाइए कद्याड़ भी डूब जा इस समय घेर दे बाकी नो बोला ये दो जोड़े हाथ मत एक ले जाऊंगा उसने जाकर वो कंगन राजा ते दे दी अब रानी इतनी अनजान नहीं थी नो बोली यू कंगन जाया कितने सभी पर मनो सुनार पे मिलवा दे के जागे बनवाने पड़ गया इधर एक मुकदमा और हो गया भाई तो उसने सोची अग्नो कदनो बता दिया कि उस तुम्हार तो दौर पर तो लिया जब शाह तक उस नीची जाती आड़े हमारा क्यों लिया ईव मरदा के नहीं करता ने बोला जी मारियो चाहे छोड़ियो ये नूर न्योमत रविदास लिया था सुर उसकी कुंड में पाई अब रानी को विश्वास हुआ कि ऐसे संत के पास तो दर्शन करने चाहिए तो रानी बहुत विद्वान थी समझदार थी ये भी विचार नहीं किया कि उसने यहां बुला लो क्योंकि संत को बुलाना आने से आ भी जाओ संत पर वो लाभ नहीं देता क्योंकि संत के पास खुद जाना चाहिए रानी नंगे पाया अपनी सहेलियां ने लेकर राजा से आज्ञा लेकर कि मुझ संत के दर्शन करना चाहती रानी वहां पहुंचे पता चल गया कि रानी आवे क्यों पहला जालिए नौकर ना करे रविदास जी ने बोला कि हो गया जवाब से दो रानी से भाई आगे बैठावांगे जिसी में गरबोरी चिथड़े पड़े हैं बिछा दूंगा बैठाऊंगा आकर बैठ गई उस रानी ने आकर नमस्कार करा ने माथा टेक कर बोले पूज्य रिसीवर संत आपके दर्शन बड़े बड़े भाग से मुझे हुए अब रविदास जी ने शांति से हुई बोली तो ठीक है कदे के मेनू लाग जा कह एक हार और लिया दे मैं कितने लाऊंगा इनकी खातरे क्यों राजा की से रोले होया करें तो हे महाराज आप महान सत हो संत हो मुझे कोई आत्म ज्ञान बताओ तो महाराज ने उनको ज्ञान दिया फिर नाम लिया उस रानी ने एक दिन भंडारा कर दिया भंडारा किया तो अपने गुरु को बुलाना ही था क्योंकि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देवे दान गुरु बिन दोनों निष्फल हैं वह पूछो वेद पुराण भंडारा दिया और उसमें 700 विपरों को जमाने का निश्चय किया 700 पंडित विपरजन बड़े मोटे मोटे जनेऊ गाल के क्यों हम दिखावे को ज्यादा पसंद करते हैं बड़ी लटा होगी बड़ी जटा होगी तो और ज्यादा महात्मा अच्छा समझाएंगे एक माला की जगह पांच पैरिया होगा तो और ज्यादा न सोचाएंगे यू कि मैं चोखा दिखे से तो हमारी जो भावना से तो उनमें यही थी विपरों में मोटे मोटे गड़ा में गड़म घाल रे जनेऊ काचे सूत के और आकर के बड़े सोच ढंग से तिलक विलक लगा करके लाइन पर बैठ जाते हैं जीवने के लिए सात सौ विपर भंडारा शुरू होता है उनमें तो एक ही नजर पड़गी के वो चमार जो है अति भंडारे के साथ में आसन पर बैठा हुआ क्योंकि रानी ने तो गुरु को आदर देना ही था आसन लगा के वहां बैठा रखे रानी नीचे बैठी महाराज जी ऊपर बैठे और साथ में भंडारा चल रहा अरण्यो भी पर जी मैं उन्हें देखा रही हूं रविदास काशी वाला चमार यहां बैठा सारे खड़े हो गए ने बोला रानी विचार ध्यान से सुन दे अब के बात कि इस चमार को यहां से उठा देने हम भोजन नहीं पाओगे और यज्ञ से विपर कोई संत भूखा जाता आपको महापाप के भागी हो गए तो नरक में जाओगी क्या के केला के अब रानी हाथ जोड़ कहने बोली विपरजन ये मेरे पूज्य गुरुवर है और गुरुदेव को मैं अपने मुंह तो न्यो नहीं कह सकती यहां से चला जा यो भंडारा लागो चाहे मत लागो चाहे मैं नरक के नरक तुम चले चली जा इतने में रविदास खड़े हो जाते हैं संत जी ने बोले बेटी नो निकाह करें संतान विपर जी मेरे से गलती हुई मुझे अपनी औकात का नहीं बेरा था रानी ने कह दिया इसका दिल राखण खातर बच्चे का माड़ा बैठ गया था बाकी मेरा अड़ा बैठने का कति न्योत नहीं है मैं तो वहां बैठूंगा आपकी जूतियां में और मेरा वहां स्थान है वहां से उठकर रानी ने बोली महाराज जी आप मत जाओ चाहिए भंडारा हो बोला बेटी गुरु कह वो करया करें अपनी नहीं चला करें फिर गुरु पद की आप जो ना शिष्य पद की अधिकारी नहीं रहोगी तो इतने कहकर रानी अपना मन मार कर बैठ जाती है रविदास जी उठकर जूतिया में जा बैठे पाछे में जहां उनके चप्पल जूते कड़े हुए थे फिर वह बैठ गए गांव हुई चौधरी क्योड़ा मान बड़ाई सहरोड़ा और कुछ नहीं महाराज कह साहेब के दरबार में गायक कोट अनंत ये गरीबदास जी कहे चार चीज चाव से रिधि सिद्धि अरमान और महंत और नहीं चाहता है ना भगवान पड़ो कुएं में पर चौधर मिल जा जांगे आसन मिल जा ऊंचा स्थान हो उस तो ऊपर हो तो बढ़िया तो अरब लाल न बचाए तो रेत में गेर दे और चाहे भाई तजूरी में धर दे कीमत में फर्क नहीं पड़ा करे कदे को ऊपर बैठन तेन सोचा महात्मा बन जाएगा लाल कपड़े पहन तो संत हो जाएगा या ढाडी बढ़ान तो हो जाएगा ये कमाई तो होया करे हालांकि मेरे जी भी लाल वस्त्र धारण किया करते हम निंदा नहीं करते किसी की लेकिन जो कमाई करे किसी कपड़े हम कर लो सफेद हो चाहे लाल हो गरीबदास महाराज धोती कुर्ते में रहे सारी उम्र कबीर साहब धोती कुर्ते में रहे सारी उम्र जो यूपी का वेशभूषा थी रविदास जी नो के नो रहे जितने भी संत हुए उन्होंने कमाई छक्का करी और जिन्होंने की दूसरे ढंग से भी जो वस्त्र बदल कर भी की तो कमाई नाम की जरूर होनी चाहिए उसे किसी में भी हो जाए कमाई की वहां पर कीमत होती है ना कि भीष बदलना तो वहां बाहर बैठ बताया भंडारा फिर वो खान लग गया आराम तो निश्चिंत होकर इतनी देर में के हुआ कि 700 रूप रविदास दिया के हुए और एक पंडित जी के साथ बैठकर भोजन खा रहे आप नहीं दिखता उसने पर दूसरे नो दिखा दे तेरी साथ यू चमार रोटी खावे ओ कह तेरे साथ खावे ओ कह तेरे साथ खावे कूदन लाग गए खड़े होकर भ्रष्ट हो गए भ्रष्ट हो गए गरीबदास जी कहे कूद कूद पिस्तावे रविदास जी ने बैठे विपर जी इसे जूत ना मारो वहां से आसन तो उठ गया तो यहां बैठा हूं जूतिया में अरे नो को हमारा दोहरा बैठा इश्ता अच्छा तो नो को नारे कतई चला जा और देखे सचो तो खड़ा और नो सात से के सात से खड़े और फिर नजदीक आ जाते हैं रविदास जी अपनी सिद्धि शक्ति ते नो बोला तुम तो ये गड़ामा डाल रहे हो सूत का मेरा देख सोने का सोने का अपनी दूरदृष्टि दृष्टि से दिखाया कि मैं सोने का दिन हुआ मेरा भीतर से बाहर नहीं है कहते उन 700 पंडितों ने उन सारे अपने जनेबों को तोड़कर एक तरफ गिर दिया डाल दिया और बंद उस रविदासिया के पां पकड़ के शस हुए जो बोला बेटा वजन तक तो पांडा छूटेगा इन पाखंडा तना तो बने बात गरीबदास जी महाराज कहते हैं सवामन सूत हुआ था उन गणना का ये लिख रहा क्या बंदी छोड़ने कि सवामन सूत जहां टूटिया काशी नगर मंझार <coughs> तो भक्ति करे सो पाइये वो पूर्ण सर्जनहार तो मतलब यह कि जो भजन करे वो भाई इस वस्तु ने पाया करे वैसे नहीं तो यहाँ क्या है कि गरीब कनक कनक कहे सोने को कनक जने वो कंद दिखाया है रे दास रंगीला दरे सात से अंग सकू ऐसी अद्भुत लीला ये बंदी छोड़ की वाणी को आपको निश्चय ये तो बहुत कथाएं इसमें इसमें लगभग सौ कथा है परंतु एक अंग में तो दो चार बतेरी सुनान खातर तो इतना समय नहीं है क्योंकि हमने बहुत प्रकरण को लेना है अब नो क्या करें खांड की बोरी में तो जहां भी परखी मारोगे खांडे लकड़ेगी इतनी परखंड में या बतेरी हो सके कि इसमें खांड से और खड़की में मारोगे तो खड़े लकड़ेगी इसमें तो।, तो सतगुरु महाराज जो है खांड की बोरी शायद जड़े तो छेड़ोगे उड़े तो जो की तो पाओगे और इसके ऊपर कबीर साहब भी अपना एक शब्द सुनाते हैं मोकू कहां ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास हूं मोकू कहा ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास मैं मोकू कहा ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास मैं ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में ना मंदिर में ना मस्जिद ना काशी कैलाश में ना काशी कैलाश में नाम जप मैं नाम तप मैं नाम भरत उपवास नाम क्रिया कर्म में रहता नाम योग संन्यास में नाम योग संन्यास नहीं प्राण में नहीं पेंड में ना ब्रह्मांड आकाश नाम तेरे कुटी भवर गुफाम सब श्वासन के श्वास में के श्वास में खोजी हो या तुरंत मिल जा एक पल ही की तलाश में कह कबीर सुना बैसा मैं तो हूँ विश्वास में मैं तो हूँ विश्वास में खोजियो एक पल ही की तलाश में कबीर सुनो मैं विश्वास तो में अब बंदी छोड़ आखिर मैंने चोड़ कर दे कबीर साहब भी कि भाई विश्वास करोगे तो मैं सू यानी परमात्मा के रूप में आपकी पूरी मदद करूंगा और ना विश्वास करोगे तब तो बीरा तुम वो थारी मर्जी तो अब आपको हम बंदी छोड़ महाराज के बारे में और जानकारी आपको देना चाहते हैं क्योंकि जब हमने अपनी इष्ट की शक्तियां का बेरा पता चल लगा जब हम इसको भगवान स्वीकार कर लेंगे क्योंकि राम और कृष्ण को हमने भगवान क्यों माना उनकी महिमाएं सुनी उनकी लीलाओं को बचपन से सुन लगे थी मात पिता थे रिश्तेदारा ते समाज ते और फिर कथाएं सुनी लीलाएं देखी तो भगवान मान के कति पक्कन रूप से मोर ला ली कि ये है कोई ऐसा नहीं भगवान कृष्ण तो मिल रहा ना राम तो सिर्फ कथा कथा सुन रहे हैं पर ईब हम इनकी सुनागे जब हम न्यो नहीं कम बंदी छोड़ के ये भगवान नहीं है पर ये डीसी ने कोई प्रधानमंत्री कहता है भाई जान नहीं तो मान नहीं सकता अनजान ने बेसिक बंडाए दौर तो हाँ भी भरे जागा कहा भाई डीसी प्रधानमंत्री यू है तस तो है क्योंकि तकरीबन एक जैसी मिलती जुलती उनके हुआ करें जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और डीसी में गणांतर नहीं दिखता अनजान में झंडी हो सह कार हो गनमैन हो पुलिस भी ले सकते हैं साथ दोनों तो हमने सोचांगे पांच सात अफसरों को भी कारों को भी ले सकते हैं तो हमने सोचा करा तक यू ये होगा क्यों एक सी तब तकरीबन मिलते जुलती उनकी सारी व्यवस्था होती है तो यहां पारक के अंग से आपको हम सुना रहे हैं बंदी छोड़ की वाणी का कुछ वर्णन उसके अंदर सारी महाराज ने अपनी लीलाएं बताई हैं कि कैसे कैसे एक समय की बात है कि बंदी छोड़ गरीब कबीर साहब जी दोनों धर्मों को समझाया करते थे किस ढंग से कि भाई जो सत साधना है ईश्वर की जो अच्छी साधना है वह तुम भूल चुके हो अब हिंदू तो कहते हैं कि मंदिर में पानी गिर दो है जल चढ़ा दो फूल चढ़ा दो शिवलिंग के ऊपर वो सुखी हो जाएंगे नहीं और स्वर्ग मिल जाएगा कभी गरीबदास जी और कबीर साहब ने बोले कति जूझ गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं पीतल ही का थाल है और पीतल का लोटा और जड़ मुहूर्त में पूजते भाई आवेगा टोटा फिर तेनो बोले इससे अच्छा तो मैं वो पीतल का एक चमचोस है ना जिससे खाना परोसा जा दो थाल में डाल दे हाथ ना दड़े कितना काम आवे तो कहते पत्तल पीतल चमचा पूजियो जो थाल परोसे और जड़ मुहूर्त किस काम की मत रहियो भरोसे है या जड़ मुहूर्त जो है किसी काम की नहीं इसका भरोसा मत रहना आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा अर्थात हम ओछी उपासनाओं को जल्दी ग्रहण करते हैं और सच्चाई से डरते हैं विचार करते हैं उसमें सौ सौ खामियां निकाल लेते हैं बंदी छोड़ के ऐसे नो बात नहीं बने भाई तो एक समय की बात है महाराज जी इन दोनों को समझाया करते थे कि जैसे गरीबदास जी की वाणी आपको हम समझाते हैं सुनाते हैं उसके बाद अगली हम आपको महाराज की कथा सुनावेंगे चमत्कार सुनावेंगे दोनों धर्मों को कहा करते कि एक मुल्ला मस्जिद में कुक है एक पुकार है बोका मुसलमानों को समझा करते कि एक मुल्ला मस्जिद में कुक है एक पुकार है बोका इनमें कौन सा स्वर्ग ने जागा हमने ला गया धोखा गरीबदास जी के हैं कि बंदी छोड़ कबीर साहब ने कहा करते हैं कि मुसलमान भाई क्या करते हैं एक बकरे को बकरी दिन काट देते हैं कैसे काटते हैं आधी नाड़ काट दें उसकी और फिर एक कलमा पढ़ते हैं जैसे हमारा वेदों से चारों वेदों से लेकर गायत्री मंत्र तैयार कर रखा है उसी प्रकार उनकी चार कतेब है उन चारों कतेबों में कलमा तैयार कर रखा है जिस प्रकार अपना ये वेदों से ओम भूर भव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देव से धीमे प्रचोदयात प्रचोदयाता ये जो मंत्र रखा ना इसको श्रेष्ठ मंत्र मानते हैं पर यु एक वेद का नहीं है चारों वेदों से थोड़े थोड़े ले रखे एक किसी का एक कोसे का एक किसी का वो पूरा जो जुगाड़ बढ़ा रखा तो इसी प्रकार उन्होंने चार कतेबों से कलमा बना रखा है वो कलमा पढ़ देते हैं उसके ऊपर अन्यों का वो आत्मा जो है इसकी रूह स्वर्ग में पहुंच जाती है भीस्त में बंदी छोड़ने बोले क्यों बढ़ाओ सो जय जयारू नो जा भीष्ट में तो अपने बड़का बपेट दो ने सोरोगर बकरिया ने कौन जान दे भाई साहब एक कोई ना से जब पक्का विश्वास नहीं हो जाना कि सिर काटन तो स्वर्ग मिले तो बकरिया नंबर कौन आन दे बौड़ा तो ये तो बंडा रखे सो तुम तो पर भाई साची ने कौन सुने सिर फोड़न हो गया बंदी छोड़ की ने बोला तो जो है ना हमारे धर्म की तो ही निकरे कह साची और कह तो तो ही निकरे राजा के पास ले गए बोले जी एक नीच जो लाए का लड़का और इस्लाम धर्म की तोहित कर तोहिन करता है बंदी छोड़ने बोले रहे किसकी तोहिन करो मैं बताऊं साची बात और मारण में हो जाओ तो गरीब दास महाराज के बोले नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा नहीं है दारम दारा वहां तो है दारम दारा उस दरगाह में धर्म राय है उस दरगाह में धर्म लेखा लेगा सारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा नहीं है दारम दारा वहाँ तो मुल्ला को के बंग सुनावे मुल्ला को के बंग ना बैरा करता तो वहां तो नहीं है दारम दारा नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं तीसों रोजे खून करत हो तीसों रोजे खून करत हो दारमदारा नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं मूल गवाय चले हो का जी मूल गवाय चले जो भर लिया घोर अंगारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है भव जल बूढ़ गए हो भाई भव जल बूढ़ गए थर की जयगा मुकारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा नहीं है दारम दारा अब विद्वान ने वेद पढ़ पर वेद न जाने वेद पढ़ पर वेद ये बच्चे पुराण अठारह वहाँ तो नहीं है दारम दारा नहीं है दारम दारा वहाँ तो अब जड़ पूजनिया ने नो कैसे जड़ को अंदरा पान खवावे जड़ को अंदरा वो बेसरे सर्जन हार वहाँ तो नहीं है दारम दारा नहीं है तारम तारा वहाँ तो उजड़ खेड़े बहुत बसाए उजड़ खेड़े ये बकरा जोटा मारा वहाँ तो नहीं है तारम तारा नहीं है तारम तारा वहाँ तो नहीं है तारम तारा आज जाको तो तुम मुक्ति कहत हो जाको तो तुम मुक्ति सो है कच्चे बारा वहाँ तो नहीं है दारमदार नहीं है दारमदार वहाँ तो नहीं है दारमदार माछ मछरिया खाते पांडे माछ मछरिया किस विद है अचारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा नहीं है दारम सो जजमान नरक को चले सो जजमान भाई डूबे सो परिवार वहाँ तो नहीं है दारम दारा नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा छाती तोड़ हम जम कर छाती तोड़ हम जम किंग उड़ लग जम का लारा वहाँ तो कहीं है दारम नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा दास गरीब कह बेकाजी दास गरीब ना कहीं वार न पारा वहाँ तो नहीं है दार मदारा नहीं है दार तो नहीं है दार मदारा दास गरीब कह बेका जी दास गरीब कह बेका जी नहीं कहीं वार न पारा वहाँ तो नहीं है दारम हाँ नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम इस प्रकार बंदी छोड़ कबीर साहेब उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मा ने यथार्थ बात बताया करते न्यू बोले कि जय या रूत भिस्त पठाई कर तदबीर कबीर भाई बंदी छोड़ गरीबदास जी ने कहे कि कबीर साहब ने कहा करते उन्हें कि जय काजी जी आपने इस बकरे की रूह को आत्मा को और भीष्ट यानी स्वर्ग में भेज दिया तो अपने एक लड़के पर यू एक कलमा पढ़ के दिखा दे अरे स्वर्ग पान खातिर तर तो राज छोड़ दिया लोगों ने और सरदड़ की बाजी ला दी और एक मामूली सी काम बना नाड़ कटवा दे भगवान मिलता हो तो कटवा लेना साइड दी काट अपने बच्चे का तेरा विश्वास नहीं है इसी प्रकार हिंदुओं मुसल पांड्या ने शुरू कर रखा था एक करौत काशी में नौका अर्धे मुक्ति जब साधना बताते ना लुटपट बनते ने बोले ना कुछ दिखता नौका उड़ा करौत में नाड़ कटवा ले तोड़ी मुक्ति हो जाएगी उड़ा जागो बकरे की तरिया उसकी नाड़ कटवाते ईसा कसूता गोच खाना मचा रखा था और हम फिर भी बोले भाड़े जी उसी में उन्हीं के आचरण करते रहे तो इन संतों ने आकर के उस समय में जो कि मुसलमानों की तरफ एक आंगली भी ठा देता हाथ काट दिया जाता था बंदी छोड़ कबीर साहब ने आकर डंके के जो चोट के ऊपर और सरेआम कहा करते थे क्योंकि मुसलमाना ने अपने सारे तने तना लिए थे सिकंदर लोधी ने भी काट भी लिया था कढ़ाई में भी जलते हुए तेल में भी गेर लिया था फूल की तरिया ऊपर बंदी छोट तो छींच तक नहीं लागी अब प्रमाण बताएंगे आपको इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हिंदुओं को भी लताड़ा है और मुसलमानों को भी दोनों को बताया है कि भाई सच्चाई न पकड़ लो न तने गदे कुत्ते बनते हांडोगे असली वस्तु असली कमाई असली नाम जो हम देते हैं वो हमारे दो है विधि है जो चलते फिरते काम करते करते जैसे गरीबदास जी महाराज थे जमींदार थे जाट थे छुड़ाने के और काम करते करते मुक्ति पाई कोई हमने सोचा महाराज गुरु जी तस तो योगी से भाई और न्यू छाछ के सरलादेश है और भाई बारह वर्ष तक तक गुफा में रहा तो मैं महाराज कहीं से मूर्ख कौन होगा जो तो न्यो करोगे तो मुक्ति हो जो कर थारा गुरु लाग रहा और तुम कर नहीं सकते फिर तुम के बार टिंडे लेने जाओ छोड़ो भाई जब मुक्ति चाहो सो जन्म मरण से छुटकारा चाहो सो आत्म कल्याण चाहो सो तो उस तरह तो तुम नहीं कर सकते जो योगी बैठे हो फिर उड़ा तुम किस उम्मीद लेकर जाओ मैंने नहीं बता दो तो। ठीक सा थारी को मैं इसका थन ठीक हो जाएगा को दूध दे दे तो दे दे ना भी दे दे यही लेन जाओ सो और गधे बनोगे उनसे उस बीमारी ने कौन बचाओगा थारी ने तो बंदी छोड़ के हमारी शरण माओ आओ थारे ये काम भी सारा और पशु नहीं तो बचाओ और सतलोक ले जाओ और उपासनाओं से स्वर्ग तक जाओगे और हम तुमने स्वर्ग सतलोक ले जाओ तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें ये पूर्ण रूप से व्यवस्था दी तो इस प्रकार अब सतगुरु महाराज हिंदुओं को जो होक्का खेते हैं ना उनके बारे में बताओ से ताकि इस होके में कितना पाप से पर इस होके ने बीड़ी में सिगरेट में जो भी है सुल्फे में दारू में मांस में कितना पाप है ये बंदी छोड़ बताओ ध्यान तो सुनियो अब देखो हम होके बुरा क्यों नहीं मानते क्योंकि हमारे समाज में पणप चुका है ऐसा पनप चुका है कि हमारे बच्चे भी पाप नहीं मानते नो कहें दादा है बाबू है और भाई रिश्तेदारी में जाओ वहां है जिस प्रकार मांस खाने वाले परिवार मांसाहारी परिवार मांस खाने को पाप नहीं मानते क्योंकि उनके बच्चे बचपन से देखने लगे थे कि तीज त्योहार के ऊपर हमारे माता पिता मांस खाते हैं और रिश्तेदारी में जावांगे तो उड़ा कलेजी कलेजी दी जाती है यानी अच्छा बट बटे होगा ना लड़की का जो आदरणीय दमाद हुस है जैसे हम हलवे बनवा जाएंगे यहां अपने जो है ना दारू लावेंगे खूब चादर बिछावेंगे और न, अच्छा बढ़िया होकर लाओगे छाट कपड़ों से कहते हैं और अच्छा ताजा करके कहने कह भाई चलन शीढ़ी नहीं होने दी भाई सेवा बहुत करी पहले या और मान्या करते और हमने बतेरे होके ठोके पहला बटे हुआ के क्यों बेरा था नहीं राक्षस जो सराह करते भाई यू है ना बड़े होके से माँ ठीक ई बेरा पटा दे कोट को बद कमाई बिना बेरे में और वो मांस जो खाते हैं वो मांसाहारी हैं वो मांस में बुरा नहीं मानते क्यों नहीं मानते कि सारा वो पाँव से बटेऊ जागा तो बकरिया की कलेजे कलेजे काट कर बटेऊ ताई दी जा जब वो प्रसन्न हुआ यानी महापाप का भागी होकर तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें बताया अथ तमाखू की बैंत ये सुनम की बात है तमाखू कसीद तमा मस्त है लुजित न सीरी कुएती न कैफ ये सं, ये भाषा जो से मिली जुली है फारसी उर्दू अब आगे इसका वर्णन होगा मरहोद मकरूद पीवे शराब होगा सरे बीच खाना खराब सरा हैं स्वर्ग को भगवान के दरबार में कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश तलक सा तमाखू शला घोट पीस ये नाक में देश ना सुन गए बुढ़िया यो भी नाश जान की बात से कति नरक में जान का बताया बंदी छोड़ दो तलक सा तमाखू शला घोट पीस दे नाक नाश और फिर कमल में कशीस अब अभी बताएंगे आपको ये फोटो इधर बना हुआ है इसमें कमल है जो गरीबदास महाराज ने कबीर साहब ने जो कि योगी शर्मा लिए उनको मुश्किल से प्राप्त हुए एक आध को ये कमलों की झलक और इस बंदी छोड़ दस साल के बच्चे ने तो गरीबदास जन जो की तुलख रखी जो के अंदर कमल है और उन कमला में भगवान से अपने अंदर जैसे टीवी पर चैनल बने होते हैं ना वो लोक है तो अपने लोक में कार्य वहां से उनका सारा पर जैसे टेलीविजन में स्थान से प्रसारण स्थान से आते हैं और इसमें देख सकते हैं जो से चैनल पर लाओगे उसी में दर्शन होंगे तो टीवी ठीक होगा तो इसी प्रकार हमारे अंदर चैनल से कमल है उन कमलों में मूल कमल में गणेश जी और उससे ऊपर कमल को स्वाद चक्र कैसे उसमें ब्रह्मा और सावित्री जी और उससे ऊपर है नाभि कमल नाभि कमल में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता जी और उससे ऊपर है यहां हृदय कमल उसमें महादेव और पार्वती जी और कंठ कमल के अंदर शेरा वाली अष्टंगी आदि माया जिसको महाराज ने बताया कि ये इसमें है और फिर सहसरार कमल के अंदर जो यहाँ है तो पिछले तरफ पर दिखाना यही पड़ता है यहाँ बढ़ नहीं सकता वो पिछले हिस्से में है उसमें एक हजार पत्ती है जैसे छोटी बेल होया कर या जाम जाती है कति पतली सी पत्ती होती है अरे छाबड़ी सी इस ढंग की एक हजार पत्ती कमल के से आकार की है और जो योगी वहां पहुंच जाता है उसमें उसमें जोत नजर आती है तो बंदी छोड़ने कहें कि जब ये हम हुक्का तमाकू हुए हैं तो ये ऑक्सीजन के द्वारा और इस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है जैसे खून खराब नहीं हो जाता कहें खून खराब हो गया तेरे वो ऑक्सीजन पूरी नहीं मिली तो वो खून फिर इन कमलामा का में का और जहां से वो गुजरे है तो इन देवताओं ने नाक बंद करनी पड़े है कि पापी के कुकर बैठे हम यानी हमारे अंदर ये ऐसा थी था इसने अच्छी वस्तुएं खानी परमात्मा का भजन भेजना ताकि हमें भी इसका कुछ महत्व मिले अच्छी तरह रहना चाहिए था शुभ भोजन खाना चाहिए था अरे यू खावे इसे कुकरम दारू पीवे उसकी भी कसस जाती है सूंगे वो भी अंदर खून में मिलता है और हुक्का पीवे वो तो जमाए चढ़ा पा रहा है तो कहे कि फिर ये सारे नाक बंद कर लें कि कहता गलती से इसको मनुष्य शरीर दे दिया आगे इसने गदा और सूर और कुत्ते बनावाने जब ये इसे कुकरम इसमें डाला तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं तलक सा तमाखू सला घोट पीस और देई नाक नास फिर कबल में कशीस उनमें बदबू जाती है उनमें दुख होता है उनको करी चूर चकना धरा नाम नास सत्र गलाई गति काट मास सतर गलाई गति काट मास व्यस्त के दरीबे में जय दीन ही दुलद और अगर मूल मौला जहां बस है प्रसिद्ध हिंदू तुर्क को जय दीन ही तलाक दोनों को ताड़े बंदी छोड़ हिंदू तुर्क को जय दीन ही तलाक पीवे तमाखू व सरे के कजाक जो तमाखू पीवे परमात्मा के दुश्मन है इन दुष्ट आत्माएं बताई अब क्या बताते हैं कि हिंदू होकर गऊ से तो परहेज करें हम गऊ का मांस नहीं खाते और बंदी छोड़ गरीबदास जी कहते हैं कि एक समय एक ऋषि ने अपने साधु राजा को बुला लिया न्योता दे दिया कि महाराज जी बनाइयो पहले वह गए थे फिर शर्मानता ने कहना पड़ गया राजा अपने साधु ने नीचा दकान खातर कहते हैं घनी फौज ले गया अक्साड़ी के ऊपर चौधर बन जाएगी तेरी हकी कंगाल के गेल क्यों ला गरी से तो उसने राजा ने संता के पास जो धन होता है वो नारा उस है और राजा के पास नहीं हो सकता उसने काम धेनु इंद्र से अर्ज करी एक काम धेनु गाय अपने एक तंबू में लाकर बंधवा ली जब वो शुरू हुआ भंडारा फौज पहुंच गई तो उन्होंने कह दिया अपने अनुचरों से कि भाई क्यों ऋषि आगे थे दस बीस के भोजन परोस जो मांगे हुआ है उसने मिलकर मतलब सौरज छुका दिए अब वो साडू राजा बैठा बैठा देखा कि इस तंबू में केले ले रहे हैं बेराना ये और कितना आ गया इस दौरे इतना सामान तो वो कहने लगा ऋषि जी आपने कहा से इतना प्रबंध कर दिया कि मैंने एक गऊ मांग रखी है इंद्र जी से और वो मिलती हमारी कमाई से ही ये तो अड़नक नगदी खेल है तो वहां से गऊ आई हुई है और काम धेनु गाय से और वो उसमें ये गुण से कुछ मांग लो चाहे तो सारे देश ने छका ली वो छका ली अब राजा ने सोची कंगाल के एक रहेगा इस गऊ का तो खोस नहीं से तो अपने घर रखिए ठाट से मोदन हो जाएगी उन्होंने बोला तू के रहेगा कंगाल इसका न मैं ले जाऊं उसका उन्होंने बोला नहीं जी अब उधारी ला रखा सुन ला रखी मेरी नहीं ये तो मैं उन इंद्र जी की उन्होंने देखी राजा के मन में खोट आ गया वहीं से अर्ज कर दी है गौ माता मेरे बस की बात नहीं रही अपने स्वदेश लौट जा मेरा काम बना और धन्यवाद देना इंद्र जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं नौकंते गऊ स्तंभों को पाड़कर ऊपर चल देती है राजा ने सोची इसका तीर मार तीर मारा पाम है तो पार पैर में तीर लगने से गऊ तो चली गई लेकिन खून तपकड़ा शुरू हो गया गरीबदास जी महाराज कहते हैं और शास्त्र भी प्रमाण देते हैं कि जहां जहां वो खून गिरा वहां पर तमाखू पैदा हुआ फिर उसका बीज बढ़ता गया सारा फैल गया तो तमाखू के ऊपर गऊ के बाल जैसे रूढ़ होते हैं आप ध्यान से देखिए तो बंदी छोड़ प्रमाण भी देते हैं खू नाम खू का खू तमाखू खू नाम खून का खू नाम खू का और तमा नाम गाय भाई सौ बार सौगंध इसको ना खाए हिंदू होके और तमाखू पियो और गां की आंड रखो तो भाई यह शर्म मान लो यानी इस बुराई को छुटाने के लिए बंदी छोड़ कितने गजब प्रमाण हमारे सामने पेश कर रहे हैं भाई कदे कोनो सोचा है कि तो मांगनिया खानिया था जहां तो बंडा गया होगा दुनिया ने इसका बंदी छोड़कर ढाई हजार बीघे जमीन थी उस समय के पौने तीन एक समय के पौने तीन बीघे और एक बीघा होया करता था ढाई हजार बीघा जमीन पूरे महा मतलब इनके पिताजी रईस आदमी थे राय साहब थे जाट थे छुड़ाने के और इन्होंने मारे जैसे तुच्छ बुद्धि जीवों को समझाने के लिए और साथ में इस ज्ञान को गठोड़ के ऐसा बना दिया कि कोई समझ नहीं सकता कि यू ज्ञान से को बद से ये कल आपने पुराण सुनी होंगी उन पुराणों में के के कह रख्या से और फिर नो कैसे उलझा पुलझा कर कि यही भगवान पूर्ण ब्रह्म तो महाराज ने नो कहा कि भगवान जरूर से पर पूर्ण ब्रह्म नहीं से डीसी साहब जरूर से पर मुख्य प्रधानमंत्री साहब नहीं है तो जो इष्टवादी हम हो गए एक दो बालक लड़े थे छोटे छोटे ने बोला तन बेरा हना मैं अवदार का छोरा सू और ने बोला तन बेरा हना मैं थानेदार का छोरा सू ने बोला हलदार बड्डा उसे थानेदार थे और छोरा ठाडा था उलदार वाला उसका दो मारे दड़ा कह बोला थानेदार उलदार बड्डा हुआ बोला ठीक से उलदार बड्डा उसे कि वहां पर वाले भाई के बस की बात से पर जो बड्डा सा वो बड्डा ही रहेगा छोटा सा वो छोटा ही रहेगा तो हम हाँ अनजानपण से डरदा जो कह बोल थर बड़ा गोलदार बुला उलदार बड्डा तो मारे गेल इतने भयभीत कर रखे ज्ञान ने हमने सोचा हाँ कि ये इसे जो कुछ है पर हमने इस बात का जो बेरा पट गया कि देख भाई यो भी शक्ति से उलदार भी पर थानेदार इससे तो चौखा में उठका ऊपर लिए शक्ति जिसने ज्ञान से वो सौता मान जाएगा पर यही यही ज्ञान देने के लिए हमने ये चलाई है वस्तु कि भूल मना रहे इसे का वह हो तो शास्त्र आम मिला है तक तो दुकान नाम पढ़ लेना फिर हमारे से बात कर लेना तो यहां कहा कि है समान कौआ कर्म के कुलीन पी में तमाकू सो फिर जम के अधीन या काल के अधीन रहेंगे अब वो तमाखू के रस है चिदानंद चित में चिसम दर्जहोर अधम पाप पापी बहे सवान और सूर कुत्ते और गधे बनते हो नजला फेरे नैन बिंद को विध्वंस और नस नाद नाड़ी फिर दम दम ही न श्वास अब इससे के के पाप की इतनी मतलब बीमारी बनती है गरीबदास जी कहें पित बाई खांसी ये तमाखू की देन होती है पित बाई खांसी निवासी निवास और भाई कफ दल कलेजा लिया है गिरास कफ के हैं इस थूक ने बलगम ने नौके युग इसमें और जरा नो करेदा थोड़ी सी ਉਹ ਫਿਰ ਸਾੜਦਾ ਟੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਆ ਕੋ ਬਦਾਤ ਡਾਲ ਲਈ ਵੀਰਾ समय था जब तनो कहना है अच्छा भर के लाइए छोरे छीड़ा करके हैं तो महाराज कहते हैं बाजे ने हाँ बाई खांसी निवासी निवास दल कलेजा लिया है ग्रास काला तमाखू और गोरा पिवाक दस बीस लंगर जा बैठे गुटाक एक भर लेगा ना उक्के आप देख चुकी तो तमाशा गली में एक भर लेगा नहीं ई जब मैं लेके जाऊंगे पड़ोसी अरे के ज्ञान है खेत में गया था ना करके उड्डा सा ठह बैठेंगे उड़े अरे रोकेंगे थोड़ी आड़ में मेरा मेरे वाला कड़ुआ यू भर ले तो महाराज के हैं ये इसे कायम कर रखे हमने अर्चा में मुक्ति और भक्ति की आस तो बंदी छोड़ के कहे हैं कि पांच दस बीस लंगर अरा बैठे गुटाट बाजे ने अर गुड़ अर हुके हजूम कोरे को बद्दी दिशा है नसूम कोई बात नहीं उनके जब बतलाओगे ना जब नहीं कहेंगे भाई फलाना से ने भाई का बनाए दिया मन अमेले पर बनाने का तन्या तो था फिर ने तन्ने के बना दिया तो हमने बना दिया यानी उड़ा थोड़ी सी आड़ मन मनमान गाड़म गाड़ा और खोसड़म खोसड़ा फिर नो कहेंगे भाई इसका क्या बन जाएगा लाइफ का देखेंगे यानी उड़ा बनाए जाएंगे बिगाड़े जाएंगे ना राम जपना ना भग और बस की उनका कुछ नहीं थोड़ की वाणी ने जब आप समझ लोगे सुन लोगे तो ये शास्त्र इसे लागेंगे मिश्री का गुड़ तो महाराज कहते हैं तमाखू के ऊपर कितनी गहराई में ले जाते हैं सतगुरु महाराज सिर्फ हमारे परमार्थ के लिए उन्होंने कोई इस चीज में शौक नहीं है कि हमें बुरा बुरा कहें या बुराई थी तो बुराई कह दी अच्छी चीज थी वो अच्छी बताए तो यहां कहा बाजे नौ और न और गुड़ गुड़ और उके हजूम कोरे कुभद्दी बीसा है नसू बाकी है पगड़ी और बाकी है न यानी अच्छी बड्डी न होगी और अच्छा इतना बड़ा तुर्रा छोड़ के और जब पकड़ के बैठेंगे और नो इतनी दूर थे एक तो ही बैठ जाएगा इन्हों का सरकाई हो रही ना यानी बहुत सटायल देख है उनका वहां फिल्म में लावांगे लेके घर हाँ, बुढ़ लान बैठा के आगे ग्रुप पे आगे देख पी के दिखाइयो तो जब आपने दिखाओ फिल्म में जो कहते हो ना होता है ये सारे पीणिए थे तो छोटकारे हैं हाँ इनमें तो सारा ने बेरा इस बात का इस इस दुख का बेरा पटा जब उस सदन छोड़ दिया बेचारा ने क्यों को मपा दिया ये दादा लाई है ससुरा ना पीवा जब भी तो जीवे हैं तो इस बात का ज्ञान सत्संग से होता है वैसे नहीं हुआ करता है घर बैठ कर तो वही सीखांगे ले आले भर ले मेरा साधन हो ले आने घूट दारू की तो उन तो छुटकारा पाकर सत्संग माना चाहिए सत्संग के ज्ञान का आगे फिर वो फीका हो जाएगा हम ना दबाव से दारू छुड़वा सकते और ना किसी को किसी पॉइंट से नहीं छुड़वा सकते हम ज्ञान से छुड़वा सकते हैं ज्ञान सबसे जब ज्ञान हो जाएगा तो फोड़ दो वरना गण का तो और फोड़ ले भाई लाके मैं तो मुँह आंदा नहीं जब इसमें ज्ञान हो जाएगा और उन तेन कुआन कुआ ढीले और छोटे देगा वैसे कितनी दाव पड़ रही हो वहां ब्याह शादी मोर ना दूसरे राज्य में जाकर पिया होगा राज्य में जिसने कोविद करनी हुई ब्याह मतलब तीज त्योहार में तो भाव ये है कि ज्ञान से बीमारी कटाया करें और आज हजार परिवार आपको एक पिक्चर हम बनवाना चाह रहे हैं हर गांव में हर घर में जाकर उनके माँ बाप से भी उन बच्चों से भी ने पूछेंगे हमारा बाप न्यो कराया करता हम इतने दुखी थे रोटी का थाली पर भी लात मार दिया करता और आज यू देवता हो गया ताकि और भी सुनेंगे उनका नो जचाएगी इसको बतना तो छोड़ देना छोड़ देना माचा और ऐसे ऐसे महान जो भगत जन थे आज वो भक्ति भी करते हैं नाम भी लेते हैं आत्म कल्याण भी करते हैं उनका परिवार भी सुखी हो गया तो यहां कहते हैं गुटक्कड़ हाँ कहते हैं बाकी ही पगड़ी और बाकी है नए और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं क्या आप भी डूब रहे रोरा भी पोता एक बुढ़ा जो है पोते नहीं लेगा गोदी में अरे थोड़ी सी आड़ में बुढ़ेगी नए पकड़ लेगा नो कहेगा और बोल भी नहीं जानता और नो खोज कर मुंह में दे लेगा और मुंह में देकर उसका सांस लेगा तो धुमा जा फिर छोरा खांसा कर खुल्लू खुल्लू खुल्लू और पोता और दादा खुश होगा नो कहेगा ते बड़ा थसला खा छे छे रस के करें लियो आप को यानी बचपन ते उनको नरक की तैयारी करके हम आप तैयार करना रहे अपने बच्चा ने और सब कह बस है तो माड़ी चीज और फिर जब शाना होगा ना माड़ा हाथ वो का नहीं चला है ना मारूंगा ससरा का ओका भूडी चीज से खबरदार पिया था और आपने होगा भरके लाइए ओका थोड़ी हाण में ये उसका क्यों कर सर बच्चे का ना पिया कर दे यानी दोगला ज्ञान नहीं चले हम मैं उस चीज ने करूं तुम ना तुम ना तुम ना करिए कोई सा मानेगा मैं को छोड़ देना गुरु जी भी खेचे हम भी खेचांगे तो यू काम भाई ज्ञान से हुआ करे तो यहाँ कहते हैं बाकी ही पगड़ी और बाकी है न डिबी डबोए और डूबे है कह गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर फिर कहे शबद मान मेरा मैं कहता तो हे अरे यू है मूल मंत्र वे तमाखू ना बोयो इसकी जड़ें खत्म कर दो इसने बौनाएं बंद कर दो अब बंदी छोड़ मूल को लेते हैं अब एक समय कोई प्रमाण देते हैं आपको एक समय बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज इधर जींद साइड में चले गए घोड़े पर चला करते बंदी छोड़ वहां पर एक मालखेड़ी गांव है कैथल के पास में तो उस माल खेड़ी के खेता में कदरा थे वहां रुखाड़े होया करते दिन में भी रात नहीं इसी पहला फसल होया करती मुश्किल से को राम बरस जाता तो रुखाड़े ने डट कर आया करते और उन्हें जुफड़ी गाल लिया करते अच्छी बड़ी फसल हो रही थी महाराज गरीबदास जी उस राई बीच में नो बांगी टेढ़ी बनाया करते खेता के बीचों बीच हो जाती सोरट कट घोड़े ने उसको ऊपर कह ले जाते वो घोड़ा बेदक कह डर कह और खेती में गबाज लिया खेती में तोड़ता हुआ कई किले दूर का फिर नो फिर नो फिर राई पा गया और उन्हें ठाए लठोड़ भाई वो रुखाड़े थे ठा कर लाठी एर लिया आगे थे मैं बोला रहा तने गोडा आड़े के मैं गणिया मैं हो रहा सब भाई तने राह नहीं दिखता सीधा आ गया वो पांच सात थे हेर के घोड़े ने कबीर गरीबदास जी का नहीं लठ ठाया ने और मारण खातरे अगर इसने गेर लो आड़े घना माच रहा था घोड़ा लेकर बंदी छोड़ने एक भाई न्यू कर दिया गरीबदास जी ने जो जिस पोजीशन में था कोई न्यू था तो सर न्यू कर रहा था तो जाम हो गए अब नो देखे मटर मटर थोड़ी <laughs> देर तक देखा फिर महाराज ने एक बहन न्यू कर दिया चुपड़ जाजा लागे सारे के जानो छह महीना के बुखार हो रहा था जब उठे उठा नहीं नो मोटर मोटर लखावा खड़े हो गए इन्हें बोले महाराज कौन सो फिर महाराज हो गए क्यों जब धोती कुर्ता दिखे थे नो बोला भाई क्यों मारो थे मैंने अगले हम तेनो कहना आए थे भाई जो है ना घोड़ा राई राई ले आते भाई इधर के क्यों लाओ थे तो मैंने नो सुथरी बदलाओ तो मैं क्या थारी गे नो करूँ तो हम तो लठ लेकर आए नो भी नहीं पूछा भाई की कारण से पशु से भाई डर भी सके मैंने कोई शौक से थरे घर में खेती उगाड़ने का मैं चार सौ को उसका आदमी दो सौ को उसका यहाँ आकर तेरी खेती उगाड़ने खतरा आया हूं तो नो बोला जी के बात होगी थी कि तुमने इन पिछले किला में जहां से मेरा घोड़ा डर कर न्यू बाजा से इनमें के बो रखा था नो बोला जी इससे पहली फसल तमाखू थी नो बोला नरबागो जब यू पशु भी इतनी भूडी बदबू माने क्योंकि वह फसल तो कट भी ली उसके बाद और बो दी फिर भी इस खेत की बदबू नहीं गई है और तुम इसने पियो नरबागो भाई आस पास तमाखू ना पियो ये तारे को आशीर्वाद है शराप नहीं दिया करे संत है जो आशीर्वाद है नो बोला नौ सदी नौ सदी बटेवाओ सदी बाहर जाना पड़े से पीना पड़े से नो बोला ना थारा चाहे बटेऊ आओ और चाहे ना आओ तम न साबत गांव को आशीर्वाद है मेरा ओका ना पी लियो और ना थरी शायद से अब बंदी छोड़ न्यू कह कर चल पड़े वो क्या अनुमान्य थे छोटी मोटी बात ने बंडे जाग रहे थे ठीक से गए सो गए ये सा जाकर देखे किसी की तन्ने टूटी पड़ी किसी की चिलम फूट रही किसी की आग बुझ रही किसी का तमाखू नहीं गायब तमा को थी मात अब नो कर रही के शाका इब गांव में आगे क्यों कई ललक उठी उनका चल गांव मत लावांगे गांव में भेजे सारे गांव वाला के नहीं हो रहे नो बोला भैया क्या कौन तोड़ गया आज के शाका हो रहा है <laughs> उनने जाकर बताई भाई नो और नो एक ऐसे संत आए थे घोड़े पर और वह कर गया न्यू कह गए भाई तमाखू आज पास का प्रयोग ना करिए गांव वाले ने बोले छोड़ देने मेरे यार कोर तोड़ गया होगा न्यू सर बालक सर कटड़ू खुल गया होगा बछड़ू खुल गया होगा और ले काचे अपने अंधे हुए टूट गए फिर उनमें मतलब नहीं मान्यता किसी की भैंस बीमार किसी का छोरा बीमार किसी का किम्मे हो गया उदमस उतर गया फिर बुद्ध अपराण चला करेंगे बुद्ध दाला ने बोला भाई थारे गांव में किसी संत का यू शराब से वह शराब के हम आशीर्वाद के अराज पाचे मत ना पियो बिराना नाश हो जाएगा थरे गांव का इबुन की मान के पर बंदी छोड़गी नहीं जची उनका हाँ बंडानी आदमी लोग कहते हैं भूत रू सिरा से थरा रू सिरा से पचास साढ़े दर्ज हजार क्या उन चुराहे पे उनने भी आप ठाला होगा क्यों बेरा डर और तक तो को जाको होनी नहीं थोड़ी अड़मुन आप ठाला हुआ यानी उनने अपना धंधा ढूंढ रखा तो फिर क्या हुआ उन्होंने उस दिन के बाद हुक्का छोड़ दिया आज भी उस गांव में प्रमाण है एक उसी गांव के ने हमारे से नाम लिया पटियाला चौक जींद पर वो फिर तो मिला नहीं उसके बाद वो नौका था जी हमारे गांव में हुक्का आज तक नहीं पीते हमने गुण अवगुण बताया ना कि मैं शराब शराब पीऊँ सू हम तम्बाकू प्रयोग नहीं कर सकते क्यों भाई कि नौ और नौ गणे दिन हो कई मतलब दो से ढाई सौ साल हो गए तो बताओ है कोई संत आया था और ऐसे ऐसे हमारे गांव में आशीर्वाद शराब दे गया वो तो शराब पैमाने से बूंद बूंद ने छुटवा दी और नो कह हम जब को रिश्तेदार को आ जाए ना एक प्रश्न का बार के तो दरवा रखा है और उसने जेड़ी में टाइम कर लिया आकर नो <laughs> कहा ले अपना भर ले पी ले दे मारे तो नो बिना कह दे इसमें भर के दे दे हम भर भी नहीं सकते उसको तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं सो नारी जारी करे सुरा पान सो बार एक चलम हुक्का पीओ डूबे काड़ीदार एक भरे भरणीय को पाप से तो एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काड़ीदार और पीणिए गेल तो बेरा ना के बनती होगी ये सतकर मान लियो बंदी छोड़ महाराज की बात को जो सत्ता इसमें सौ की सौ सत है एक बाणी भी अगर कोई इसमें झूठ सत कर दे उसके जूत और मारा सर इसमें तो चौबीस हजार बाणी बंदी छोड़ के अड़तालीस घंटे चलती है आज तक पहला शास्त्र है जिसके अंदर हर चीज को उसमें निचोड़ भी दिया उसका वर्णन भी दिया और सार बताया उपलब्धि बताई हर हानि बताई तो यहां कहते हैं सबद मान मेरा मैं कहता हूं तो हे यही मूल मंत्र वह तमाखू ना बोयो तमाखू तलब अजाजील बंदा <clears throat> ईराना समूल और सरे का वचन जिन की ना अदूल अब बंदी छोड़ हम सेवकों को जो हम उनके हो चुके उनको न्योके हैं जब मेरी बात का मानोगे तो पार और नहीं मानोगे तो थरी वाह दुर्गति होगी तो कितनी भक्ति कर लेना कैसे एक अजाजील नाम का संत हुआ भगत हुआ उसके गुरु ने बता दिया कि तू तो जितनी बंदगी करेगा उतना ही उत्तम स्थान यानी तेरी भक्ति बन जाएगी नाम भी जप और नमस्कार का उसने विष्णु जी का नाम जपया और लंबी डंडोत या बंदगी नमस्कार जैसी भी झुका कर ग्यारह अरब करी